अर्ज किया है पिक्चर देखने जाओ तो थिएटर फुल नौकरी ढूंढने जाओ तो वैकेंसी फुल और गैस से गाड़ी चलानी हो तो डिक्की फुल सबको पता है कि वेगना डुओ का कंपनी फिटेड एलपीजी टैंक बचत कराए और डिक्की में जगह भी बनाए तो करना ना लोकल सिलेंडर फिट कराने की भूल वेगनर डुओ है बिल्कुल cool S M S Duo two three six three six